मेंढक शहजादा बहुत वक्त पहले की बात है जब ख्वाहिशात सच हो जाया करती थी एक बादशाह अपनी खूबसूरत बेटी के साथ रहता था वो इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि बादशाह ने हमेशा उसे हर चीज़ लाकर दी जो भी उसकी तमन्ना थी अब्बू मैं पुराने खिलौने से खेलते हुए उखता गई हूँ मुझे खेलने के लिए कुछ नया चाहिए ओ मेरी प्यारी तुम अनमोल हो इसलिए मैं तुम्हें सबसे कीमती तोहफा दूंगा जो मेरे दादा ने मुझे मेरे बचपन में दिया था बादशाह ने अपनी सोने की तजोरी खोली और एक चमकता हुआ सुनहरी गेंद निकाला वाओ लो ये गेंद लो ये आसमान के नीचे सूरज की तरह चमकेगा लेकिन ये बहुत कीमती है इसे कभी मत खोना शुक्रिया अब्बू आप दुनिया के सबसे बेहतरीन अब्बू हैं शहजादी ने बाग में गेंद से खेलना शुरू किया जब गेंद घूमता हुआ गया तो इसके पीछे हर तरफ भागी अचानक वहाँ एक बड़ा मेंढक आ गया आ कंधे मेंढक दूर चले जाओ मैंने तुम्हें झाड़ियों से देखा है मैं तुम्हारी खूबसूरती देख के हैरान हो गया हूँ और अब क्या तुम मेरी दोस्त बनकर मुझसे खेलोगी आ तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मैं तुम जैसे बदसूरत मेंढक के साथ नहीं खेल सकती मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ मैं भला तुम जैसे गंदी चीज से क्यों खेलूंगी मैं कूद सकता हूँ मैं उछल सकता हूँ मैं तैर सकता हूँ तुम्हारी गेंद पकड़ सकता हूँ मैं खेलने के लिए बेहतरीन हूँ मैं ऐसे गंदे मेंढक को छूने के बजाय केला खेल लूंगी मुतनफर होकर शहजादी वापस महल गई मेंढक से जान छुड़ाने के लिए अगले दिन वो गेंद से खेलने आई उसने एक अकेला मुकाम ढूंढा कुएं के पास एक पुराने लाइम के दरख्त के नीचे कितनी पुरसकून जगह है ये वो गजबनाक मेंढक मुझे यहाँ नहीं ढूंढ सकता उसने गेंद से खेलना शुरू किया उसने ऊपर उछाला और फिर से पकड़ लिया ऐसा करते हुए गेंद सूरज की रोशनी में इतना चमका कि उसकी आंखें चुंदिया गई बजाय इसके कि वो खादमा के हाथों में गिरता वो कुएं के किनारे जमीन पर लगा और फिर कुएं में जा गिरा ओ नहीं मेरा सुनहरी गैन ओह मेरे खुदा ये तो इतना गहरा कुआ है मैं इस कुएं में अपनी गैन नहीं देख सकती वो रोती और रोती गई जैसे उसे कभी नहीं आराम मिल सकता उसके रोने के दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी आपको क्या दुख पहुंचा बादशाह की बेटी आपके आंसू तो पत्थर जैसा दिल पिघला दे उसने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है ओह क्या ये तुम हो बदसूरत मेंढक मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा सुनहरी गेंद कुएं में गिर चुका है बुरा मत मानिएगा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन आप मुझे क्या देंगी अगर मैं आपकी गेंद वापस ला दूं? जो तुम्हें पसंद हो प्यारे मेंढक मेरे कपड़े मेरे मोती जवाहरात या चाहे मेरे सोने का ताज जो मैंने पहना हुआ है आपके कपड़े आपके मोती और आपके जवाहरात और ये सुनहरी ताज मेरे लिए नहीं लेकिन अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें और मुझे अपना साथी बनाकर मेरे साथ खेलें और मुझे मेज़ पर हाँ? बैठने दें और प्लेट में से खाने दें और अपने कप में से पीने दें और अपने बिस्तर में सुलाएं अगर आप मुझसे ये सब वादा करती हैं तो फिर मैं पानी में गोता लगाऊंगा और आपकी सुनहरी गेंद वापस ले आऊंगा शहजादी मेंढक की लंबी ख्वाहिशात की फिरत सुनकर उकता गई लेकिन अपना सुनहरी गेंद वापस लेने के लिए उसने फैसला किया कि वो मेंढक के साथ सबर से काम लेगी ओ हाँ मैं वादा करती हूँ जो भी तुम चाहोगे मगर सिर्फ तब जब तुम मेरी गेंद वापस ला दोगे जो ही मेंढक ने उसका वादा सुना वो आंख और जल होकर डूब गया कुछ देर बाद वो ऊपर सतह पर आया अपने मुंह में गेंद लिए उसने घास पर उसे फेंका शहजादी अपनी प्यारी खेलने की चीज फिर से देखकर बहुत खुश हुई उसने उसे उठाया और भाग गई रोको रोको मुझे भी ले चलो मैं तुम्हारी जितना तेज नहीं भाग सकता मगर इसका कोई फायदा ना हुआ अगले दिन जब शहजादी बादशाह के साथ खाने के मेज पर बैठी हुई अपनी सोने की थाली में खा रही थी दरवाजे पर दस्तक हुई ओ शहजादी मुझे अंदर आने दो शहजादी उठी और भागी ये देखने के लिए कि कौन है फिर जब उसने दरवाजा खोला एक छोटा मेंढक बाहर बैठा था तुम गंदी मखलूक तुमने मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत कैसी की उसने दरवाजा जल्दी में बंद किया और वापस अपनी कुर्सी पर चली गई बहुत बेआराम थी बादशाह ने देखा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है मेरी बच्ची तुम किस चीज से डर रही हो क्या बाहर दरवाजे पर कोई जिन खड़ा है जो तुम्हें ले जाएगा ओ नहीं अबू वहाँ एक हॉलनाक मेंढक है और वो मेंढक क्या चाहता है ओ अबू मैं कल जब कुएं के पास बैठी हुई थी और अपनी सुनहरी गेंद से खेल रही थी वो पानी में गिर गई और मेंढक आया उसने मुझे वो दिलवा दी इस शर्त पे कि मैं उससे अपना साथी बना लूंगी और मैंने उससे वादा किया मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पानी छोड़कर मेरे पीछे पीछे आएगा मगर अब तो वो दरवाजे के बाहर है और अंदर आना चाहता है बादशाह की बेटी मेरे लिए दरवाजा खोलो तुमने मुझसे एक वादा किया था तुमने एक दफा वादा किया तो तुम्हें फिर उसकी पासदारी करनी चाहिए दरवाजा खोलो और मेंढक को अंदर आने दो तो वो गई और दरवाजा खोला और मेंढक उछलकर हाँ। अंदर आ गया उसकी एड़ियों का पीछा करते हुए आया जब तक वो अपनी कुर्सी पर पहुंच गई। शुक्रिया शहजादी मुझे ऊपर उठाओ और अपने साथ बिठाओ शहजादी ने उसे गुस्से से देखा लेकिन अपने वाली का सख्त चेहरा देखकर उसने उसे उठा लिया आ, हाँ, अब हम एक साथ खा सकते हैं शहजादी ने खाना ना चाहते हुए खाया और मेंढक ने दिल भर कर खाया मुझे और सूप दो मेहरबानी करके ये बहुत मजेदार है मेरे पेट में ये पहले नहीं किया था रॉबर्ट मेंढक ने फिर से सूप का प्याला खाली कर दिया मगर शहजादी के गले में जैसे नवाला फंस सा गया था बहुत शुक्रिया शहजादी मैंने अब बहुत खा लिया मैं थक चुका हूँ अब तो मुझे अपने कमरे में ले चलो और अपना रेशमी बिस्तर तैयार करो और फिर हम सोते हैं बहुत हो चुका तुम अभी के अभी महल छोड़कर चले जाओ बदसूरत मेरी प्यारी बच्ची ये अल्फाज एक बादशाह की बेटी को जेब नहीं देते तुमने मेंढक से वादा किया था अब तुम्हें उसकी पासदारी करनी होगी और बादशाह अगर किसी से एक दफ़ा वादा करते हैं तो फिर उसे बदलते नहीं ये हमारी पुरानी रवायत है जिसे हमें पूरा करना होगा उसने मेंढक को अपनी उंगली और अंगूठे से उठाया उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गई और एक कोने में रख दिया बेहतर है कि तुम सारी रात यहीं पर रहो वरना मैं तुम्हें कल अंधेरे जंगल में फेंक दूंगी मैं थक चुका हूँ मुझे तुम्हारी तरह आराम देनी चाहिए मुझे ऊपर उठाओ वरना मैं बादशाह को बता दूंगा तुम गजबनाक मेंढक उसने उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ दीवार के साथ पटक दिया मगर जू ही वो गिरा वो मर गया हाँ जागो पगले मेंढक ये ड्रामा भी बंद करो शहजादी ने उसे उंगली चबोई वो ऐसे मरा हुआ था जैसे पत्थर <laughs> क्या ये वाकई मर चुका है ओह मेरे खुदा ये मैंने क्या कर डाला मेहरबानी करके जाग जाओ मेंढक मैं अपनी बदतमीजी पर बहुत शर्मिंदा हूँ उसने उसे अपने हाथ पर उठाया और रोती रही और उसने नरमी से मेंढक को चूमा अजब बात हुई मेंढक ने अपनी आंख खोली और सीधा फर्श पर छलांग लगाई हाँ वो मेंढक से एक खूबसूरत शहजादा बन गया जिसकी खूबसूरत आंखें थी ओ मेरे तुम कौन हो छोटा मेंढक कहाँ है घबराओ मत मैं वही मेंढक हूँ और अब शहजादा बन चुका हूँ मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा जब मैं इंसान था तो मैं बहुत तेज और जिद्दी था एक दफा मैं जंगल में जानवरों का शिकार कर रहा था कि अचानक ही जंगल की परी मेरे रास्ते में जाहिर हुई तुम बेरहम इंसान ये जानवर तुम्हारे खेलने के खिलौने नहीं ये तुम्हारी तरह जानदार हैं खुदा ने ये हैरान कुन कुदरत तख्लीक की और तुम इसको तबाह कर रहे हो क्या इसने कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सको क्या तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ मैं इस सल्तनत का शहजादा हूँ और ये जंगल ये दरख्त ये जानवर और इस जमीन पर जो कुछ है वो मेरी मलकियत है जाहिल शहजादे कुदरत खुदा की होती है इस कायनात का खालिक अल्लाह है तुम नहीं तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मासूम जानवरों को मारो बहुत हो चुका औरत दूर हटो अचानक जंगल की परी एक बड़ी और लंबी औरत बन गई शहजादा उसे देखकर डर गया तुम जिद्दी इंसान मैं बदवा देती हूँ कि तुम छोटे से मेंढक बन जाओ अब इस जंगल के साम तुम्हें अपना शिकार करके खाएंगे जिस तरह तुम उसे खाने के लिए शिकार कर रहे थे फौरी तौर पर शहजादा मेंढक में तब्दील हो गया ओ, कि तुमने मुझ पर क्या कर दिया मैं भीख मांगता हूँ जंगल की परी मुझे माफ़ कर दो मैं वादा करता हूँ कुदरत माँ को आइंदा नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा हर एक से रहम करूँगा वादा करता हूँ मुझे माफ़ कर दो मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है मगर तुम्हारी जिद की सजा मिलनी चाहिए मैं तुम्हें एक जादुई तोड़ देती हूँ जी मेहरबानी कीजिए बड़ी भी मैं अपने आप को साबित कर दिखाऊंगा तुम्हें एक शहजादी ढूंढनी होगी जो बेचारी मखलूक की इज्जत न करती हो और फिर तुम इसे अपने पर रहम दिल होने पर कायल करो जब तुम एक इंसान की फितरत बदलने पर कामयाब हो जाओगे तभी तुम वापस शहजादे बन सकते हो शहजादी को बेरहम होने पर बहुत शर्मिंदगी हुई इतना उदास मत हो खूबसूरत शहजादी मुझसे वादा करो कि तुम किसी से बेइज्जती वाला सलूक नहीं करोगी और सब पर शफकत करोगी जी हाँ वादा करती हूँ शहजादे ओह बहुत खूब अब जबकि तुमने रहम दिल रहने का फैसला कर लिया है तो क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकता हूँ जरूर जैसा आप चाहें तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो जो मुझे आज तक मिली है मुझे तुमसे प्यार हो चुका है क्या तुम मुझसे शादी करोगी शहजादी बिना किसी झिझक के हसीन शहजादी ने खूबसूरत शहजादे को हाँ कर दी उसके वालिद की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली हर दिन ये जोड़ा जानवरों को खाना डालता और कुदरत की तखलीक का ख्याल रखता जंगल की परी इस जोड़े की रहमदिली देखकर बहुत खुश थी बहुत खूब मेरे बच्चों तुमने अपने आप को आला और अरफा इंसान साबित कर दिया है ये खुदाई देन हर इंसान में मौजूद होती है मगर वो जो इस फितरत को जगाते हैं वही आला मकाम पर पहुँचते हैं अल्लाह हमेशा अपनी रहमत तुम दोनों पर बरसाता रहे उसके बाद ये जोड़ा हमेशा शादबाज रहने लगा